गजेंद्र वहाँ माइनिंग वाले एरिया में काफी लोगों को जानता रहा होगा काफी सारे वर्कर्स उसके लिए काम किया करते थे हो सकता है कि गजेंद्र किडनैपिंग केस में पर्सनली इन्वॉल्व ना हो लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि उसका कोई जानने वाला या किसी करीबी ने ही बच्चों की किडनैपिंग की हो इसीलिए अब विक्रांत गजेंद्र के दोस्तों और उसके करीबियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि कहीं से कुछ सुराग मिल सके अभी तक विक्रांत के हिसाब से जो भी किडनैपिंग केस में इन्वॉल्व रहा होगा उनमें से हो सकता है कि कोई आदमी पहले बहुत गरीब रहा हो लेकिन बाद में उसके पास किडनैपिंग का अथा पैसा आया होगा दूसरी बात वो कर्जत में मौजूद उस चांदी के खदान में काम करता रहा होगा और वो खदान का कोई डेली वर्कर नहीं था क्योंकि तो जिस तरह से खदान के भीतर बम ब्लास्ट किया गया था उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो आदमी कोई स्पेशलिस्ट था और तीसरी बात अगर वो आदमी काफी हिम्मत वाला है और अगर अभी तक जिंदा है तो काफी पावरफुल भी हो सकता है इन सब अनुमानों के साथ विक्रांत एक बार फिर से इस केस के बारे में शुरू से सोचने लगा और एनालिसिस करने लगा जब दोबारा से इस किडनैपिंग केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब पुलिस ने उन सभी लोगों से पूछताछ की थी जो भी उस वक्त माइंस में काम करते थे अधिकतर वर्कर्स तो वहीं आसपास के ही थे और ये सिर्फ मजदूर थे उन्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं था यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता था कि ये माइंस किसकी है वो बस काम करके अपनी मजदूरी लेने के मतलब रखते थे और वैसे भी इस बात को अब 26 साल हो चुके हैं सो काफी वर्कर्स की तो मौत भी हो चुकी है विक्रांत को ऐसा कोई सस्पेक्ट मिल नहीं रहा था सो उसने ऑफिस में फोन करके राघव से मदद ली राघव ने सभी वर्कर्स की लिस्ट निकालकर उसमें से एक दो ऐसे वर्कर्स का एड्रेस विक्रांत को दिया जिसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट कर सकता था विक्रांत ने अपना पूरा दिन उसे खोजने में लगा दिया करजत पहाड़ी के चप्पे चप्पे में विक्रांत घूमता रहा अंत में उसे एक दो सस्पेक्ट मिले भी लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली है राघव ने विक्रांत को एक सीनियर माइंस वर्कर का एड्रेस दिया तब उनके घर तक पहुंचने के लिए विक्रांत को बहुत पापड़ बेलने पड़े नदी पार करने से लेकर बैलगाड़ी तक का सफर करना पड़ा तब जाकर विक्रांत उनके घर पहुंच सका था लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल सकी दरअसल वो दोनों ही वर्कर अब काफी बूढ़े हो चुके हैं उनकी यादाश्त तो बहुत कमजोर हो चुकी थी उन्हें कुछ याद भी नहीं था अंत में विक्रांत को हैरान होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा लेकिन फिर भी विक्रांत ने हिम्मत नहीं हारी वो लगातार अपने काम में लगा रहा भले ही आज उसे कुछ बड़ी सफलता नहीं मिली है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर मिले हैं जो कि उसने किडनैपर्स के बारे में पहले से ही अनुमान लगाए थे उसे गजेंद्र ठाकुर के बारे में भी थोड़ा बहुत और जानने को मिला है उसने सारी इन्फॉर्मेशन राघव को ट्रांसफर कर दी ताकि केस से जुड़े कुछ और संदिग्धों के बारे में पता लगाया जा सके विक्रांत सुबह से ही इस इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और अब तक शाम हो चुकी थी आज विक्रांत को लंच करने का भी टाइम नहीं मिला शाम को उसे नैना के साथ मिलकर मंजू के मर्डर केस पर काम करना था सो वो अब कर्जत से वापस मुंबई के लिए लौट पड़ा नैना ने उसे मिलने के लिए एक खास स्थान पर बुलाया था ताकि कोई उन्हें देख ना सके नैना से मिलने के लिए जाते वक्त विक्रांत ने रास्ते में खुद के खाने के लिए के से एक बर्गर ले लिया था जब वो नैना से मिला तो उसने विक्रांत को दो चीजें दी एक तो एक सीक्रेट फोन जिसके माध्यम से अब दोनों आगे केस से रिलेटेड बात करेंगे दूसरी चीज विक्रांत को एक फाइल दी थी जिसमें कई सारी फोटो लगी हुई थी नैना ने विक्रांत को जो फोन दिया था वो दरअसल देखने में बच्चों की घड़ी जैसा दिखता था विक्रांत ने उसे अपने हाथों में पहन लिया नैना ने विक्रांत को बताया कि ये फोन सिर्फ कॉल रिसीव कर सकता है और ये फोन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है कोई भी इस फोन की कॉल को टैप नहीं कर सकता और ना ही इसे हैक किया जा सकता है इस फोन में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगी हुई है नैना ने विक्रांत को सजेस्ट किया कि ट्रैकिंग सिस्टम हमेशा ऑन रखें जिससे कि वो सिक्योर रहे वाओ अमेजिंग विक्रांत ने अपने हाथ में घड़ी की तरह उसे फोन को पहने हुए कहा फिर वो नैना द्वारा दी गई फाइल्स को खोलकर देखने लगा उसमें बहुत सारी कार की फोटो लगी हुई थी नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा इसमें जितनी कार की फोटो हैं ये सब उस रात मंजू के मर्डर वाले प्लेस से गुजरी थी तो तुम्हें इन सब कार के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना है क्या विक्रांत चौक उठा नैना क्या तुम कुछ और लोगों को भी इस मिशन में शामिल करने जा रही हो नहीं तो क्यों नैना ने सवाल किया अरे मतलब इतनी सारी कार के बारे में मैं भला अकेले ही कैसे पता लगा पाऊंगा विक्रांत तुम्हें पता है मैं तुमसे पहले से ये काम अकेले ही करना चाहती थी और तुम्हें भी मैंने अपनी रिस्क पर इसमें इन्वॉल्व किया है अभी मैंने सीनियर्स को भी नहीं बताया कि मैंने तुम्हें भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है जब उन्हें पता लगेगा ना तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी ओ ये बात है विक्रांत ने कुछ सोचते हुए फिर कहा अच्छा नैना तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बेनिफिट ले रही हो मतलब सिर्फ साथ में कॉफी पर जाने के बदले में तुम तुम मेरे से इतना सारा काम करवा रही हो और तुमने तुमने किसी सीनियर को भी नहीं बताया है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ हम्म, ये तो है नैना ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन सुनो मेरी बात तुम तुम मेरी गाड़ी देख रहे हो ना ये सैतीस लाख की है और और बांद्रा में मेरा एक two B H K flat भी है समझे अब बताओ ये सब कहा से आया ओ रियली तुम तुम मुझे तीन साल का बच्चा समझते हो विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा पुलिस वाले कब से इतने अमीर होने लग गए एक मिनट एक मिनट तुम तुम कोई इलीगल काम तो नहीं करती ओ तभी तो तुम्हारे पास इतना पैसा आया है ना नहीं दरअसल तुम्हें पता नहीं है तुम जानते हो मैं किस पोस्ट पर काम करती हूँ मैं भले ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारे साथ नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम कर रही हूँ लेकिन मेरी सैलरी कमिश्नर और पुलिस के बराबर है और ये ये इसलिए है क्योंकि मैं हर केस पर पूरी शिद्दत से काम करती हूँ सैलरी के बाद मुझे हर केस को सॉल्व करने के लिए अवार्ड भी मिले हुए हैं कभी तुम घर आना मेरे मैं दिखाऊंगी तुम्हें मुझे चीफ मिनिस्टर तक से अवार्ड मिले हुए हैं और मेरे पास सबके सर्टिफिकेट भी हैं समझे अगर मैंने मंजू मैडम का केस सॉल्व कर लिया ना तो फिर मुझे इतना पैसा मिलने वाला है जिससे मैं बांद्रा में एक और फ्लैट खरीद सकती हूँ और मुझे गाड़ी तो खरीदनी ही है इस बार सोच रही हूँ की बी ले ही लू